धम्मो मङ्गलमुक्तिम् अहिंसा सञ्जमो तमो देवा वीतं नमन् सन्ति ज धर्म अहिंसा संयम और तप जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलग्न रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं वाह तप का अंतिम सूत्र अंतिम अंग है संलीनता संलीनता सेतु है वाह तप और अंतर तप के बीच संलीनता के बिना कोई वाह तप से अंतर तप की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है इसलिए संलीनता को बहुत ध्यान पूर्वक समझ लेना जरूरी है संलीनता सीमांत है वहां से वाह तप समाप्त होते और अंतर तक शुरू होते संलीनता का अर्थ और संलीनता का प्रयोग बहुत अद्भुत है परंपरा जितना कहती है वो तो इतना ही कहती है कि अपने शरीर के अंगों को व्यर्थ संचालित न करना संलीनता है अकारण शरीर न हिले डुले संयत हो तो संलीनता है इतनी ही बात नहीं है यह तो कुछ भी नहीं है यह तो संलीनता का बाहर की रूपरेखा को भी स्पर्श करना नहीं है संलीनता के गहरे अर्थ है तीन हिस्सों में हम उसे समझें पहला तो आपके शरीर में आपके मन में आपके प्राण में कोई भी हलन चलन नहीं होता है जब तक आपकी चेतना ना कटे अंगुली भी हिलती है तो भीतर आत्मा में कंपन पैदा होता है दिखाई तो अंगुली पड़ती है कि हिली लेकिन कंपन भीतर से आता है सूक्ष्म से आता है और स्थूल तक फैल जाता है इतना ही सवाल नहीं है कि अंगुली ना हिले क्योंकि ये हो सकता है अंगुली ना हिले लेकिन भीतर कंपन हो कोई अपने शरीर को संलीन करके बैठ जा सकता है योगासन लगा के बैठ जा सकता है अभ्यास कर ले सकता है और शरीर पर कोई भी कंपन न दिखाई पड़े और भीतर तूफान चले और ज्वालामुखी का लावा उबलता रहे और आग जले संलीनता वस्तुता तो तब घटित होती है जब भीतर सब इतना शांत हो जाता है कि भीतर से कोई तरंग नहीं आती जो शरीर पर कंपन बने लहर बने पर हमें शरीर से ही शुरू करना पड़ेगा क्योंकि हम शरीर पर ही खड़े तो संलीनता के अभ्यास में जिसे उतरना हो उसे पहले तो अपनी शरीर की गतिविधियों का निरीक्षण करना होता है वो पहला हिस्सा है क्या कभी आपने ख्याल किया कि जब आप क्रोध में होते हैं तो और ढंग से चलते हैं जब आप क्रोध में होते हैं तो आपके चेहरे की रेखाएं और हो जाती हैं आपकी आंख पर अलग रंग फैल जाते हैं आपके दांतों में कोई गति हो जाती है आपकी उंगलियां किसी भार से शक्ति से भर जाती हैं आपके समस्त स्नायुमंडल में परिवर्तन हो जाता है जब आप उदास होते हैं तब आप और ढंग से चलते हैं आपके पैर भारी हो गए होते हैं उठाने का मन भी नहीं होता कहीं जाने का भी मन नहीं होता आपके प्राण पर जैसे पत्थर रख दिया हो ऐसी आपकी सारी इंद्रियां पत्थर से दब जाती है जब आप उदास होते हैं तब आपके चेहरे का रंग बदल जाता है रेखा बदल जाती है जब आप प्रेम में होते हैं तब जब आप शांत होते हैं तब तब सब फर्क पड़ते हैं लेकिन आपने निरीक्षण न किया होगा संलीनता का प्रयोग समझना हो तो जब आप क्रोध में हो तो भागे हुए दर्पण के सामने पहुंच जाए और देखें कि चेहरे में कैसी स्थिति है क्योंकि आपका क्रोध से भरा चेहरा दूसरों ने देखा है आपने नहीं देखा देखें कि आपका चेहरा कैसा है जब आप उदास हो तब आईने के सामने पहुंच जाए और देखें कि आंखें कैसी जब आप चल रहे हो उदास तब ख्याल करें कि पैर कैसे पड़ते हैं शरीर झुका हुआ है उठा हुआ है हिटलर ने एक मनस्वित को फ्रांस पर हमला करने के पहले फ्रांस भेजा था और पूछा था कि जरा फ्रांस की सड़कों पर देखो कि युवक कैसे चलते हैं उनकी रीढ़ सीधी है या झुकी हुई है उस मनोजिस ने खबर दी कि फ्रांस में लोग झुके झुके चलते हैं ट्रेन का फिर उनको जीतने में कोई कठिनाई न पड़ेगी हिटलर का सैनिक देखा है आपने पूरा जर्मनी रीढ़ सीधी करके चल रहा था जब कोई आशा से भरा होता है तो रीढ़ सीधी हो जाती है जब कोई निराशा से भरा होता है तो रीढ़ झुक जाती है बुढ़ापे में सिर्फ इसीलिए रीढ़ नहीं झुक जाती कि शरीर कमजोर हो जाता है इससे भी ज्यादा इसलिए झुक जाती है कि जीवन निराशा से भर जाता मौत सामने दिखाई पड़ने लगती भविष्य नहीं रह जाता महावीर जैसे व्यक्ति की रीढ़ बुढ़ापे में भी नहीं झुकेगी क्योंकि मौत नहीं है असली सवाल बुढ़ापे में मोक्ष का द्वार है परम आनंद है तो ऋण नहीं झुकेगी आप भी जब स्वस्थ चित्त प्रसन्न चित्त होते हैं तो और ढंग से खड़े होते हैं अगर मैं बोल रहा हूं और आपको उसमें कोई रस नहीं आ रहा तो आप कुर्सी से टिक जाते हैं अगर आपको कोई रस आ रहा है आपकी रीढ़ कुर्सी छोड़ देती है आप सीधे हो जाते हैं अगर कोई बहुत संवेदनशील हिस्सा आ गया फिल्म में देखते समय कोई बहुत थ्रिलिंग कोई कपा देने वाला हिस्सा हो गया तो आपकी रीढ़ सीधी नहीं होती आगे चुप जाती श्वास रुक जाती है आपके चित्र में पड़े हुए छोटे छोटे परिवर्तनों की लहरें आपके शरीर की परिधि तक फैल जाती है ज्योतिषी या हस्तरेखाविद या मुख आकृति को पढ़ने वाले लोग नब्बे प्रतिशत तो आप पर ही निर्भर होते आप कैसे उठते कैसे चलते कैसे बैठते आपके चेहरे पर क्या भाव है आपको भी पता नहीं है वो सब आपके बाबत बहुत सी खबरें दे जाते हैं आदमी एक किताब है उसे पढ़ा जा सकता है और जिसे साधना में उतरना हो उसे खुद अपनी किताब पढ़ने शुरू करनी पड़ती है सबसे पहले तो पहचान लेना होगा कि मैं किस तरह का आदमी हूँ तो जब क्रोध में हो आईने के सामने खड़े हो जाएं और देखें कैसा है चेहरा क्या है रंग आंख पर कैसी रेखाएं फैल गई जब शांत हो मन प्रसन्न हो तब भी आईने के सामने खड़े हो जाए तब आप अपनी बहुत सी तस्वीरें देखने में समर्थ हो जाएंगे और एक और मजेदार घटना घटेगी वो संलीनता के प्रयोग का दूसरा हिस्सा है जब आप आईने के सामने खड़े होकर क्रोधित चित्त का अध्ययन कर रहे होंगे तब आप अचानक पाएंगे की क्रोध खिसकता चला गया शांत होता चला गया क्योंकि जो क्रोध का अध्ययन करने में लग गया उसका क्रोध से संबंध टूट जाता है अध्ययन से संबंध जुड़ जाता है उसकी चेतना का तादाद है मैं क्रोध हूँ इससे टूट गया मैं अध्ययन कर रहा हूँ इससे जुड़ गया और जिससे हमारा संबंध टूट गया वो वृत्ति तत्काल छीण हो जाती पाइने के सामने खड़े होकर एक और रहस्य आपको पता चलेगा कि अगर आप क्रोध का निरीक्षण करें तो क्रोध जिंदा नहीं रह सकता तत्काल विलीन हो जाता और भी एक मजेदार अनुभव होगा कि जब आप बहुत शांत हो और जीवन एक आनंद के फूल की तरह मालूम हो रहा हो किसी क्षण में कभी सूरज निकला हो सुबह का और उसे देखकर मन प्रफुल्लित हुआ हो या रात चांद तारे देखे हो और उनकी छाया और उनकी शांति मन में प्रवेश कर गई हो या एक फूल को खिलते देखा हो और उसके भीतर की बंद शांति आपके प्राणों तक बिखर गई हो तब आईने के सामने खड़े हो जाए तब एक और नया अनुभव होगा और वो अनुभव ये होगा कि जब कोई शांति का निरीक्षण करता है तो क्रोध तो निरीक्षण करने से विलीन हो जाता है शांति निरीक्षण करने से बढ़ जाती और गहरी हो जाती क्रोध इसलिए विलीन हो जाता है कि आपका क्रोध से संबंध टूट जाता है क्रोध से संबंधित होने के लिए बेचैन होना जरूरी है परेशान होना जरूरी है उद्विग्न होना जरूरी है अध्ययन के लिए शांत होना जरूरी है निरीक्षण के लिए मौन होना जरूरी है तटस्थ होना जरूरी है तो संबंध टूट जाता है शांति के आप जितने ही निरीक्षक बनते हैं उतने ही आपका और निरीक्षण के लिए जो शांति जरूरी है वो भी जुड़ जाती है अध्ययन के लिए जो शांति जरूरी है वो भी जुड़ जाती है तटस्थ होना जरूरी है वो भी जुड़ जाता है शांति और गहरी हो जाती है सच तो यह है कि निरीक्षण करने से जो गहरा हो जाए वही वास्तविक जीवन है निरीक्षण करने से जो गिर जाए वो धोखा था या ऐसा कहें कि निरीक्षण करने से जो बचा रहे वही पुण्य है और निरीक्षण करने से जो तत्काल विलीन हो जाए वही पाप है संलीनता का पहला प्रयोग है राइट ऑब्जर्वेशन सम्यक निरीक्षण आप बहुत हैरान होंगे कि आप कितनी तस्वीरें हैं एक साथ महावीर ने पृथ्वी पर पहली दफे एक शब्द का प्रयोग किया है जो पश्चिम में अब पुनः पुनर्जीवित हो गया है महावीर ने पहली दफे इस शब्द का प्रयोग किया है बहुचित्रता पहली बार आज पश्चिम में इस शब्द का बड़ा मूल्य उनको पता भी नहीं कि महावीर ने 2500 साल पहले इसका प्रयोग किया पोली साइकिक पश्चिम में आज इस शब्द का बड़ा मूल्य क्योंकि जैसे ही पश्चिम मन को समझने गया उसने कहा मन मोनोसाइकिक नहीं है एक मन नहीं है आदमी के भीतर अनंत मन है पोलिसाइकिक बहुत मन है महावीर ने ढाई हजार साल पहले कहा कि आदमी बहुचित्तवान है एक चित्त नहीं है जैसा हम सोचते हम निरंतर कहते मेरा मन हमें कहना चाहिए मेरे मन माई माइंड नहीं माई माइंड क्योंकि आपके पास एक मन है एक ही मन हो तो जीवन और हो जाए बहुत मन है और ये मन भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ बहुत है ये विरोधी भी है ये एक दूसरे के दुश्मन भी है इसलिए आप सुबह कुछ दोपहर कुछ सांझ कुछ हो जाते आपको खुद ही समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है जब आप प्रेम में होते हैं तो आप दूसरे ही आदमी होते हैं और जब आप घृणा में होते हैं तो आप दूसरे ही आदमी होते इन दोनों के बीच कोई कोई संगति नहीं होती कोई संबंध नहीं होता जिसने आपको घृणा में देखा है वो अगर आपको प्रेम में देखे तो भरोसा ना कर पाएगा कि आप वही आदमी है और ध्यान रहे कि सिर्फ घृणा की वजह से नहीं आपके चेहरे का सब रूपरेखा आपके शरीर का ढंग आपका आभा मंडल आपका सब बदल गया होगा तो पहला तो निरीक्षण करें ठीक से पहचाने कि आपके पास कितने चित्त थे और प्रत्येक चित्त की आपके शरीर पर क्या प्रतिक्रिया है आपका शरीर प्रत्येक चित्त दशा के साथ कैसा बदलता है जब आप शांत होते हैं तो शरीर को हिलाने का भी मन नहीं होता श्वास भी जोर से नहीं चलती खून की रफ्तार भी कम हो जाती है हृदय की धड़कने भी शांत हो जाती है जब आप अशांत होते हैं तो अकारण शरीर में गति होती है विकासांत आदमी कुर्सी पे बैठा होगा तो पैर हिलाता रहे कोई उससे पूछे कि क्या कर रहे हो कुर्सी पे बैठ के चलने की कोशिश कर रहे हो वो पैर हिला रहा है आदमी थोड़ी देर बैठा रहे तो करवटे बदलता रहता है बैठे बैठे क्या हो रहा है उसके भीतर उसके भीतर चित्त इतना बेचैन है कि वो बेचैनी वो शरीर से रिलीज कर रहा है अगर वो रिलीज ना करे तो पागल हो जाए वो रिलीज उसे करनी पड़ेगी अगर वो शाम को घंटे भर जाके खेल के मैदान पर दौड़ लेता है खेल लेता है घंटे भर घूम आता है फिर आता है तो ठीक नहीं तो वो बैठे बैठे लेटे लेटे अपने शरीर को गति देगा और वहां से शक्ति को मुक्त करेगा लेकिन ये शक्ति व्यर्थ व्यय हो रही है संलीनता शक्ति संग्रह शक्ति संचयन है और हम कोई संलीनता में नहीं जीते तो हम अपनी शक्ति को ऐसे ही लुटाए चले जाते हैं ऐसे ही व्यर्थ ही जिसका कोई परिणाम नहीं होने वाला जिससे कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं जिससे कहीं पहुंचेंगे नहीं कुर्सी पर बैठ के पैर हिलाते रहते कोई मंजिल उससे हल नहीं होती उतनी शक्ति से कहीं पहुंचा जा सकता था कुछ पाया जा सकता 24 घंटे हम शक्ति को अपने अंगों से बाहर फेंक रहे हैं लेकिन इसका अध्ययन करना पड़े पहले स्वयं को पहचानना पड़े और बहुत हैरान होंगे आपकी जिंदगी की किताब जब आपके सामने खुलने शुरू होगी तो आप हैरान होंगे कि कोई रहस्यपूर्ण से रहस्यपूर्ण उपन्यास इतना रहस्यपूर्ण नहीं और अनूठे से अनूठी कथा इतनी इतनी स्ट्रेंज इतनी अजनबी नहीं जितने आप हैं और ऐसा ही नहीं कि क्रोध और अक्रोध में आप अलग स्थिति पाएंगे आप पाएंगे कि क्रोध के भी सेट से क्रोध में भी बहुत रंग है कभी आप एक ढंग से क्रोधित होते हैं कभी दूसरे ढंग से क्रोधित होते हैं कभी तीसरे ढंग से क्रोधित होते हैं और तब तो तीनों ढंग के क्रोध में आपके शरीर की आकृति अलग अलग होती है और तो परत परत जब आप अपने को देखेंगे तो चकित हो जाएंगे कि कितना आपके भीतर छिपा है ये पहला प्रयोग है निरीक्षण इससे आप पहचान पाएंगे कि आपके भीतर क्या हो रहा है आप जो शक्ति के पुंज है उस शक्ति का आप क्या उपयोग कर रहे हैं दूसरी बात जैसे ही आप समर्थ हो जाएं कि आप क्रोध को देख पाए वैसे ही आप आईने के सामने अपने आप भी क्रोध शांत होगा आप एक दूसरा प्रयोग जोड़े वो सलिनता का दूसरा प्रयोग है जब चित्त क्रोध से भरा हो तब आप आईने के सामने खड़े हो जाएं निरीक्षण करने के बाद ही ये किया जा सकता है लंबे निरीक्षण के बाद ही ये हो सकेगा आईने के सामने खड़े हो जाएं और अपने तरफ से शरीर के अंगों को वैसा करने की कोशिश करें जैसा शांति में होता है आईने के सामने खड़े हो जाएं आपको भली भांति याद है कि शांति में चेहरा कैसा होता है अब क्रोध की स्थिति है चेहरा क्रोध की धारा में बह रहा है आप आईने के सामने खड़े होकर उस चेहरे को याद करें जो शांति में होता है और चेहरे को शांति की तरफ ले जाने लगे बहुत शीघ्र थोड़े ही दिनों में आप हैरान होंगे कि आप चेहरे को शांति की तरफ ले जाने में समर्थ हो गए सारी अभिनय की कला सारी एक्टिंग इस अभ्यास पर ही निर्भर करती है जन्मजात किसी को ये प्रतिभा होती है तो वो अभिनय में कुशल मालूम पड़ता है लेकिन ये प्रतिभा विकसित की जा सकती है और ये इतनी विकसित की जा सकती है कि जिसका कोई हिसाब लगाना कठिन है आईने के सामने खड़े होकर क्रोध भीतर है और आप चेहरे पर शांति की धारा बहा रहे हैं थोड़े ही दिन में आप समर्थ हो जाएंगे और तब आप एक और नया अनुभव कर पाएंगे और वो ये होगा कि क्रोध मन में दौड़ता शांति शरीर में दौड़ सकती है और जब आप इन दोनों में समर्थ हो जाते हैं तो आप तीसरे हो जाते हैं ना तो आप क्रोध रह जाते ना तो आप मन रह जाते और ना आप शरीर रह जाते क्योंकि मन क्रोध में है वो क्रोध से जल रहा है लेकिन शरीर पर आपने शांति की धारा बहा दी है वो शांत आकृति से बन गया है निश्चित ही आप दोनों से अलग और पृथक हो गए ना तो अब आप अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रोध से और न शांति से दोनों से तादाद नहीं कर सकते आप दोनों के देखने वाले हो गए और जिस दिन आप दो पैदा कर लेते हैं एक साथ उस दिन आपको पहली दफा एक मुक्ति अनुभव होती है आप दोनों के बाहर हो जाते हैं एक के साथ तादाद में आसान है दो के साथ तादाद में आसान नहीं है एक के साथ जुड़ जाना आसान है दो विपरीत चीजों के साथ एक साथ जुड़ जाना बहुत कठिन है असंभव है हाँ अलग अलग समय में हो सकता है कि सुबह आप क्रोध के साथ जुड़े दोपहर आप शांति के साथ जुड़े ये हो सकता है अलग अलग समय में लेकिन साइमल्टेनियसली युग पर आप क्रोध और शांति के साथ जुड़ नहीं सकते बड़ी मुश्किल होगी कैसे जुड़ेंगे जोड़ मुश्किल हो जाए मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा है आखिरी क्षण उसके करीब है वो अपने बेटे को बुला के सलाह देता है वो कहता है मैं जानता हूँ कि मैं कितना ही कहूँ कि तू धूम्रपान मत करना लेकिन तू करेगा क्योंकि मेरे पिता ने भी मुझसे कहा था लेकिन मैंने किया इसलिए ये सलाह मैं तुझे नहीं दूंगा मैं जानता हूँ कि समझाना चाहता हूँ तुझे अनुभव से कहना चाहता हूँ कि शराब मत छूना लेकिन मेरे पिता ने मुझे समझाया था लेकिन मैंने शराब पी और मैं जानता हूं कि तू कितना ही कहे कि नहीं नहीं पीऊंगा तू पिएगा मैं कितना ही कहूं कि स्त्रियों के पीछे मत दौड़ना मत भागना लेकिन ये नहीं हो सकता मैं खुद ही भागता रहा लेकिन एक बात ख्याल रखना एक स्त्री के पीछे एक ही समय में भागना दो स्त्रियों के पीछे एक साथ मत भागना इतनी तो मेरी सलाह मानना वन एट ए टाइम एक स्त्री के पीछे एक ही समय में भागना एक ही समय में दो स्त्रियों के पीछे मत भागना लड़के ने पूछा कि क्या ये संभव हो सकता है एक ही समय में दो स्त्रियों के पीछे भागना नसरुद्दीन का संभव हो सकता है मैं अनुभव से कहता हूँ लेकिन नरक निर्मित हो जाता है ऐसे तो एक ही स्त्री नरक निर्मित करने में समर्थ है इसको उल्टा के पुरुष भी कहा जा सकता है स्त्री को सलाह दी जा रही हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन दो फिर तो नर्क सुनिश्चित है लेकिन उसके बेटे ने कहा आप कहते हैं तो मेरा मन होता है कि दो के पीछे दौड़ कर देखना नसरुद्दीन तो ने कहा यह भी मैं जानता हूं कि ये भी तू सुनेगा नहीं क्योंकि मैंने भी नहीं सुना अच्छा है दौड़ उसका बेटा पूछने लगा कि आप अभी मना करते थे आप कहते हैं दौड़ तो नसरुद्दीन ने कहा कि दो स्त्रियों के पीछे एक ही समय में दौड़ने से जितनी आसानी से स्त्रियों से मुक्ति मिल जाती है उतनी एक एक के पीछे अलग अलग दौड़ने से नहीं मिलती चित्त में भी अगर दो वृत्तियों के पीछे एक साथ आप दौड़ पैदा कर दें तो आप चित्त की वृत्ति से जितनी आसानी से मुक्त हो जाते हैं उतनी एक वृत्ति के साथ नहीं हो पाते एक वृत्ति पूरा ही घेर लेती है दो वृत्तियां कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं आपस में आप पर उनका जोर कम हो जाता है क्योंकि उनका आपस का संघर्ष गहन हो जाता है क्रोध कहता है कि मैं पूरे पर हावी हो जाऊं शांति कहती है मैं पूरे पर हावी हो जाऊं और आपने दोनों एक साथ पैदा कर दिए वो दोनों आप पे हावी होने की कोशिश छोड़कर एक दूसरे से संघर्ष में रत हो सकते और जब क्रोध और शांति आपस में लड़ रहे हो तब आपको दूर खड़े होकर देखना बहुत आसान हो जाता है संलीनता का दूसरा अभ्यास है विपरीत वृत्ति को शरीर पर पैदा करना इसमें कोई कठिनाई नहीं अभिनेता इसे रोज कर रहा है जिस स्त्री से उसे प्रेम नहीं है उसको भी वो प्रेम प्रकट कर रहा है नसरुद्दीन देखने गया है एक दिन नाटक उसकी पत्नी उसके पास है नसरुद्दीन बहुत प्रभावित हुआ पत्नी भी बहुत प्रभावित हुई है वो जो नायक है उस नाटक में वो इतना प्रेम प्रकट कर रहा है अपनी अपनी प्रेसी के लिए कि पत्नी ने नसरुद्दीन से कहा कि नसरुद्दीन इतना प्रेम तुम मेरे प्रति कभी प्रकट नहीं करते नसरुद्दीन ने कहा कि मैं भी हैरान और हैरान इसलिए हूं कि वो जो जिसके प्रति प्रेम प्रकट कर रहा है वस्तुतः उसकी पत्नी है बीस साल से इतना प्रेम प्रकट किसी और के लिए कर रहा होता तो भी ठीक था वो उसकी पत्नी है बीस साल से इसलिए चकित तो मैं भी हूँ he is a real actor वास्तविक प्रमाणिक अभिनेता है क्योंकि पत्नी के प्रति 20 साल से जो उसकी पत्नी उसके प्रति वो इतना प्रेम प्रकट कर रहा है गजब का एक्टर हमारा चित्त लेकिन अभ्यास से संभव है शरीर कुछ और प्रकट करने लगता है मन कुछ और तब दो धाराएं टूट जाती है तो ध्यान रहे राजनीति का ही नियम नहीं है डिवाइड एंड रूल साधना का भी नियम है विभाजित करो और मालिक हो जाओ अगर आप शरीर और मन को विभाजित कर सकते हैं तो आप मालिक हो सकते हैं आसानी से क्योंकि तब संघर्ष शरीर और मन के बीच खड़ा हो जाता है और आप अछूते अलग खड़े हो जाते इसलिए संलीनता का दूसरा अभ्यास है मन में कुछ शरीर में कुछ को आईने के सामने खड़े होकर अभ्यास करें आईने के सामने इसलिए कह रहा हूं कि आपको आसानी पड़ेगी एक दफा आसानी हो जाए फिर तो बिना आईने की भी आप अनुभव कर सकते हैं जब आपको क्रोध आए फिर धीरे धीरे आईने को छोड़ दें जब आपको क्रोध आए तब उसको अवसर बनाए मेक इट अपॉर्चुनिटी और जब क्रोध आए तब आनंद को प्रकट करें और जब घृणा आए तब प्रेम को प्रकट करें और जब जब किसी का सिर तोड़ देने का मन हो तब उसके गले में फूल माला डालते और देखें अपने भीतर ये दो धाराएं विभाजित मन को और शरीर को दो हिस्सों में जाने दें और आप अचानक ट्रांसेंडेंस में अतिक्रमण में प्रवेश कर जाएंगे आप पार हो जाएंगे ना आप क्रोध रह जाएंगे ना आप क्षमा रह जाएंगे ना आप प्रेम रह जाएंगे ना आप दृढ़ रह जाएंगे और जैसे ही कोई दोनों के पार होता है संलीन हो जाता है अब इस संलीन का अर्थ समझ लें एक शब्द हम सुनते हैं तल्लीन ये संलीन शब्द बहुत कम प्रयोग में आता है तल्लीनता हमने सुना है संलीनता बहुत कम और अगर भाषा कोष में जाएंगे तो एक ही अर्थ पाएंगे नहीं एक ही अर्थ नहीं है महावीर ने तल्लीनता का उपयोग नहीं किया तल्लीनता सदा दूसरे में लीन होना और संलीनता अपने में लीन होना तल्लीन का अर्थ है जो किसी और में लीन है चाहे भक्त भगवान में हो वो तल्लीन है संलीन नहीं जैसे मीरा कृष्ण में वो तल्लीन है वो इतनी मिट गई है कि शून्य हो गई कृष्ण ही रह गए पर कोई और कोई दूसरा बिंदु उस पर स्वयं को सब भांति समर्पित कर देना वो एक मार्ग है उस मार्ग के अपनी विधियां है महावीर का वो मार्ग नहीं है उस मार्ग से भी पहुंचा जाता है उस पहुंचने का रास्ता अलग है महावीर का वो रास्ता नहीं है महावीर कहते हैं तल्लीन तो बिल्कुल मत होना किसी में तल्लीन मत होना इसलिए महावीर परमात्मा को भी हटा देते हैं नहीं तो तल्लीन होने की सुविधा बनी रहेगी महावीर कहते हैं संलीन हो जाना अपने में लीन हो जाना अपने में इतना लीन हो जाना कि दूसरा बचे ही नहीं तल्लीन तो का सूत्र है दूसरे में इतनी लीन हो जाना कि स्वयं बचो ही ना तल्लीन तो होने का सूत्र है इतने अपने में लीन हो जाना कि दूसरा बचे ही ना तो दोनों से ही एक की उपलब्धि होती है एक ही बच रहता है तल्लीन वाला कहेगा परमात्मा बच रहता है तल्लीन वाला कहेगा आत्मा बच रहती वो सिर्फ शब्दों के भेद है और विवाद सिर्फ शाब्दिक और व्यर्थ और पंडितों का है जिन्हें अनुभूति है वो कहेंगे वो एक ही बच रहता है लेकिन सलीन वाला उसे परमात्मा नाम नहीं दे सकता क्योंकि दूसरे का उपाय नहीं है तल्लीनता वाला उसे आत्मा नहीं कह सकता क्योंकि स्वयं के बचने का कोई उपाय नहीं लेकिन जो बच रहता है उसे कोई नाम देना पड़ेगा अन्यथा अभिव्यक्ति असंभव है इसलिए तल्लीन वाला कहता है आत्मा बच रहती है तल्लीन वाला कहता है परमात्मा बच रहता है जो बच रहता है वो एक ही है ये नामों का फर्क है और विधियों के कारण नामों का फर्क है ये पहुंचने के मार्ग की वजह से नाम का फर्क है तल्लीन का अर्थ है अपने में लीन हो जाना कोई अपने में है पूरा जरा भी बाहर नहीं जाता कहीं कोई गति नहीं रही क्योंकि गति तो दूसरे तक जाने के लिए होती है अगति हो जाएगी अपने तक आने के लिए किसी गति की कोई जरूरत नहीं वहां तो हम है ही क्रिया नहीं रही अक्रिया हो गई क्योंकि क्रिया तो किसी और के साथ कुछ करना हो तो करनी होती है अपने ही साथ करने के लिए कोई क्रिया नहीं रह जाती अक्रिया हो जाएगी अगति हो जाएगी अचलता आ जाएगी और जब भीतर ये घटना घटती है तो शरीर पर भी ये भाव फैल जाता है मन पर भी ये भाव फैल जाता है ये अतिक्रमण जब होता है मन और शरीर के पार जब स्वयं की प्रकृति होती है तो सब ठहर जाता है सब ठहर जाता है मन ठहर जाता है शरीर ठहर जाता है ये महावीर की प्रतिमा संलीनता की प्रतिमा है सब ठहरा हुआ कुछ गति नहीं मालूम पड़ती अगर महावीर के हाथ को देखें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठहरा हुआ है इसलिए महावीर के हाथ में मसल्स नहीं बनाए गए किसी प्रतिमा में क्योंकि मसल्स तो गति के प्रतीक होते क्रिया के प्रतीक होते तो महावीर की बाहें ऐसी हैं जैसे स्त्रीण तो आपने ख्याल नहीं किया होगा किसी जैन तीर्थंकर की बाहों पर कोई मसल नहीं है मसल तो क्रिया की सूचक हो जाती है शरीर को जिस ढंग से बिठाया है वो ऐसा है जैसे कि फूल अपने में बंद हो जाए अब पोखरिया बंद हो गई फूल की सुगंध अब बाहर नहीं जाती अपने भीतर रमती है इसलिए महावीर का बहुत प्यारा शब्द है आत्म रमन अपने में ही रमना कहीं नहीं जाना कहीं नहीं जाना सब पखड़िया बंद है अगर महावीर के चित्र को देखे एक फूल की तरह ख्याल करें तो फौरन महावीर की प्रतिमा में दिखाई पड़ेगा सब पखड़िया बंद हो गई है महावीर अपने भीतर है जैसे फूल के भीतर कोई भवरा बंद हो गया ऐसी महावीर की सारी चेतना संलीन हो गई अपने में सब सुगंध भीतर सब कहीं कोई बाहर नहीं जा रहा है कुछ बाहर नहीं जा रहा है बाहर और भीतर के बीच सब लेन देन बंद हो गया कोई हस्तांतरण नहीं होता है न कुछ बाहर से भीतर आता है न कुछ भीतर से बाहर जाता है जब शरीर इतनी स्थिरता में आ जाता है मन इतनी स्थिरता में आ जाता है श्वास भी बाहर भीतर नहीं होती कैसा श्वास भी इस क्षण को महावीर कहते हैं समाधि उत्पन्न होती है इस संलीन क्षण में अंतर यात्रा शुरू होती है लेकिन संलीनता का अभ्यास करना पड़े हमारा अभ्यास है बाहर जाने का भीतर जाने का हमारा कोई अभ्यास नहीं है हम बाहर जाने में इतने ज्यादा कुशल हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हम बाहर चले जाते कुशलता का मतलब ही ये होता है कि पता ना चले और काम हो जाए हम इतने कुशल हैं बाहर जाने में अब एक ड्राइवर है अगर वो कुशल है तो वो गपशप करता रहेगा और गाड़ी चलाता रहेगा कुशलता का मतलब ही ये है कि गाड़ी चलाने पर ध्यान भी न देना पड़े अगर ध्यान देना पड़े तो वो अकुशल है रेडियो सुनता रहेगा गाड़ी चलाता रहेगा मन में हजार बातें सोचता रहेगा गाड़ी चलाता रहेगा गाड़ी चलाना सचेतन क्रिया नहीं है कोलिन विल्सन ने एक बहुत पश्चिम के योग और विचारशील व्यक्ति ने कहा है कि हम उन्हीं चीजों में कुशल होते हैं और जब कुशल हो जाते हैं तो हमारे भीतर एक रोबोट हमारे भीतर एक यंत्र मानव है सबके भीतर कुशलता का अर्थ है कि हमारी चेतना ने वो काम यंत्र मानव को दे दिया हमारे भीतर वो जो रोबोट वो करने लगता है फिर हमें जरूरत नहीं रहती तो ड्राइवर जब ठीक कुशल हो जाता है तो उसे कार चलानी नहीं पड़ती उसके भीतर जो रोबोट यंत्र मानव है वो कार चलाने लगता है वो तो कभी कभी बीच में आता है जब कोई खतरा आ जाता है और रोबोट कुछ नहीं कर पाता कोई एक्सीडेंट का वक्त आया तो वो एकदम मौजूद हो जाता है तो रोबोट से काम अपने हाथ में ले लेता है वो जो भीतर यंत्र हमारा मन है उससे काम झटके से हाथ में लेना पड़ता है जब एक्सीडेंट का मौका आ जाए कोई गड्ढे में गिरने का वक्त आ जाए अन्यथा वो रोबोट चला रखता है मनोवैज्ञानिकों ने हजारों परीक्षण से तय किया है कि सभी ड्राइवर रात को अगर बहुत देर तक जाग कर गाड़ी चलाते रहे हो तो नींद भी ले लेते हैं क्षण दो क्षण को और गाड़ी चलाते रहते नींद भी ले लेते हैं इसलिए रात को जो एक्सीडेंट होते हैं वो कोई दो बजे और चार बजे के बीच होते हैं ड्राइवर को पता भी नहीं चलता कि उसने झपकी ले ली एक सेकंड को वो डूब जाता है लेकिन उतनी देर को रोबोट काम को संभालता है वो जो हमारे यंत्र है वक्त हमारा चित्त है वो काम को संभालता है जितना रोबोट के भीतर प्रवेश कर जाए कोई चीज उतनी कुशल हो जाती है और हम जन्मों जन्मों से बाहर जाने के आदि हैं तो वो हमारे यंत्र में समाविष्ट हो गई बाहर जाना हमें ऐसा ही है जैसे पानी का नीचे बहना उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता भीतर आना बड़ी यात्रा मालूम पड़ेगी क्योंकि हमारे यंत्र मानव को कोई पता ही नहीं है कि भीतर कैसे आना हम इतने कुशल हैं बाहर जाने में हम बाहर ही खड़े हैं हम भूल ही गए हैं कि भीतर आने की भी कोई बात हो सकती है रोबोट की परतें हैं इस यंत्र मानव की परतें हैं आबरी मैनन ने एक भारतीय बाप और आंग्ल मां का बेटा है आबरी मैनन उसका पिता सारी जिंदगी इंग्लैंड में रहा कोई बीस वर्ष की उम्र का था तब इंग्लैंड चला गया वहीं शादी की वहीं बच्चा पैदा हुआ लेकिन आबरी मैंने ने लिखा है कि मेरी माँ सदा मेरे पिता की एक आदत से परेशान रही वो दिन भर अंग्रेजी बोलता था लेकिन रात सपने में मलयालम रात सपने में अपनी मातृभाषा ही बोलता था साठ साल का हो गया है तब भी चालीस साल निरंतर होश में अंग्रेजी बोलने पर भी रात सपना तो वो अपनी मातृभाषा में देखता था जैसे कि स्वभावता स्त्रियां परेशान होती क्योंकि वो पति सपने में भी क्या सोचता है इसका भी पता लगाना चाहती तो आबरी मैंने ने लिखा है कि मेरी माँ सदा चिंतित थी कि पता नहीं ये क्या सपने में बोलती कहीं किसी दूसरी स्त्री का नाम तो नहीं लेता मलयालम कहीं किसी दूसरी स्त्री में उत्सुकता तो नहीं दिखला था लेकिन इसका कोई उपाय नहीं था सच ये है कि बचपन में जो भाषा हम सीख लेते हैं फिर दूसरी भाषा उतनी गहरी रोबोट में कभी नहीं पहुंच पाती कभी नहीं पहुंच पाती क्योंकि उसकी पहली परत बन जाती है दूसरी भाषा आप कितनी ही गहरी जाए उसकी परत दूसरी ही होगी पहली नहीं हो सकती उस पर कोई उपाय नहीं है इसलिए मनस्वित कहते हैं कि हम सात साल में जो सीख लेते हैं वो हमारी जिंदगी भर कोई पचहत्तर प्रतिशत हमारा पीछा करता है उससे तो छुटकारा नहीं वो हमारी पहली परत बन जाता है इसलिए अगर सत्तर साल का बूढ़ा भी क्रोध में आ जाए तो वो सात साल जैसे बच्चे जैसा व्यवहार करने लगता है तत्काल क्योंकि रोबोट रिग्रेस कर जाता है इसलिए क्रोध में आप बचकाना व्यवहार करते हैं और प्रेम में भी करते हैं वो भी ध्यान रखना जब कोई आदमी एक दूसरे के प्रति प्रेम से भर जाते हैं तो बहुत बचकाना व्यवहार करते हैं उनकी बातचीत भी बचकानी हो जाती है एक दूसरे के नाम भी बचकाने रखते हैं प्रेमी एक दूसरे के नाम बचकाने रखते हैं हो गए हैं क्योंकि प्रेम का जो पहला अनुभव है वो सात साल में सीख लिया गया अब उसकी पुनरुक्ति होगी ये जो मैं कह रहा हूं कि हमारा बाहर जाने का व्यवहार इतना प्राचीन है जन्मों जन्मों का है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम बाहर जा रहे हैं और हम बाहर चले जाते हैं आप अकेले बैठे फौरन अखबार खींच कर उठा लेते हैं आपको पता नहीं चलता आपका रोबोट आपका यंत्र मानव कह रहा खाली कैसे बैठ सकते अखबार कीजिए उस अखबार को आप सात दफे पढ़ चुके हैं सुबह से फिर आठवीं दफे पढ़ रहे इसका बिना ख्याल किए कि अब आप क्या पढ़ रहे वो रोबोट भीतर नहीं ले जाता वो तत्काल बाहर ले जाता रेडियो खोलो बातचीत करो बाहर जाओ किसी दूसरे से संबंधित हो क्योंकि रोबोट को एक ही बात पता है दूसरे से संबंधित होना उसको अपने से संबंधित होना पता ही नहीं तो इसका जरा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अति ध्यान रखें तो ही इसके बाहर हो सकेंगे और रोबोट ट्रेनिंग से चलता है उसका प्रशिक्षण है आपको पता नहीं कि आप अपने रोबोट से कितना काम ले सकते हैं आपने अगर जैन मुनियों को अवधान करते देखा है तो आप समझते होंगे कि बहुत बड़ी प्रतिभा की बात है सिर्फ रोबोट की ट्रेनिंग है आप कर सकते हैं छोटी सी ट्रेनिंग है रोबोट से आप कितने ही काम ले सकते हैं एक दफा उसे सिखा दें हम केवल एक ट्रैक पर काम करते हैं आप टेप रिकॉर्डर को जानते हैं टेप रिकॉर्डर एक ट्रैक का भी हो सकता है दो ट्रैक का भी हो सकता है चार ट्रैक का भी हो सकता है आपके पास चार ट्रैक का ट्रेप रिकॉर्डर हो जो एक ही पट्टी पर चार ट्रैक पर रिकॉर्ड करता है और आपको पता ना हो आप एक पे ही करते रहे तो आप जिंदगी भर एक पे ही करते रहेंगे बाकी तीन ट्रैक खाली पड़े रहेंगे आपके मन के रोबोट के हजारों ट्रैक आप एक ही साथ हजारों ट्रैक पे काम कर सकते हैं इसका तो थोड़ा प्रयोग आपको मैं ख्याल दिला दूं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी थोड़े दिन एक छोटा सा अभ्यास करके देखें घड़ी रख लें अपने हाथ हाथ की खोल के सामने उसका जो सेकंड का कांटा है उस पर ध्यान रखें माँ की पूरी घड़ी को भूल जाए सिर्फ सेकंड के कांटे को घूमते हुए देखें वो एक मिनट में या साठ सेकंड में एक चक्कर पूरा करेगा एक मिनट का अभ्यास करें कोई तीन सप्ताह में अभ्यास आपका हो जाएगा जब आपको घड़ी के और कांटे ख्याल में नहीं आएंगे और आंकड़े ख्याल में नहीं आएंगे अंक ख्याल में नहीं आएंगे डायल धीरे धीरे भूल जाएगा सिर्फ वो सेकंड का भागता हुआ कांटा आपको याद रह जाएगा जिस दिन आपको ऐसा अनुभव हो कि अब मैं एक मिनट तक सेकंड के कांटे पर ध्यान रख सकता हूँ आपने बड़ी कुशलता पाई जिसका आपको कल्पना भी नहीं हो सकती अब आप दूसरा प्रयोग शुरू करें ध्यान सेकंड के कांटे पर रखें और भीतर एक से लेकर साठ तक की गिनती बोले ध्यान कांटे पर रखें और भीतर एक दो तीन चार से साठ तक गिनती बोले साठ या जितनी हो सके एक मिनट में सौ हो सके तो सौ तीन सप्ताह में आप कुशल हो जाएंगे दोनों काम एक साथ डबल ट्रैक काम शुरू हो जाएगा ध्यान कांटे पर भी रहेगा और ध्यान संख्या पे भी रहेगा अब आप तीसरा काम शुरू करें ध्यान कांटे पर रखें भीतर एक से सौ तक गिनती बोलते रहें और कोई गीत की घड़ी कड़ी गुनगुनाने लगे भीतर ही तीन सप्ताह में आप पाएंगे कि तीन ट्रैक का काम शुरू हो गया ध्यान कांटे पे भी रहेगा ध्यान आंकड़ों पर भी रहेगा संख्या पे भी रहेगा गीत की कड़ी पे भी रहेगा अब आप जितने चाहें उतने ट्रैक पर धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं आप सौ ट्रैक पर एक साथ अभ्यास कर सकते और सौ काम एक साथ चलते रहेंगे पर्थ पर्थ यही अवधान है इसका अभ्यास कर लेने पर आप मदारीगिरी कर सकते हैं जैन साधु करते हैं वो सिर्फ मदारीगिरी उसका कोई तो उसका मूल्य नहीं है लेकिन रोबोट को एक दफे आप सिखा दें तो रोबोट करने लगता है और एक खतरा यह कि रोबोट जब करने लगता है तो सिखाना जितना आसान है उतना आसान बुलाना नहीं है सिखाना बहुत आसान है ध्यान रखना आप स्मरण बहुत आसान है विस्मरण बहुत कठिन है लेकिन असंभव नहीं है वॉश आउट किया जा सकता है जैसे टेप पर किया जा सकता है मिटाया जा सकता है और मिटाना बहुत कठिन है और उससे भी ज्यादा कठिन विपरीत का अभ्यास है हमारे यंत्र चित्र का अभ्यास है बाहर जाने के लिए तो पहले तो ये बाहर जाने का अभ्यास मिटाना पड़ता है और फिर भीतर जाने का अभ्यास पैदा करना पड़ता है तो इसके लिए और ये संलीनता में जाने के लिए आवश्यक होगा जब भी आपका यंत्र मानव आपसे कहे बाहर जाओ आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कार में आप बैठे हैं बिल्कुल सोए हुए आदमी की तरह अखबार उठा लेते हो पढ़ना शुरू कर देते आपको ख्याल नहीं कि आप यंत्र मानव कहता कैसे अपने में संलीन बैठे हो अखबार पढ़ो ये हाथ बिल्कुल नींद में जाता है अखबार उठाता है ये आंखें नींद में पढ़ना शुरू कर देती है ये मन नींद में ग्रहण करना शुरू कर देता है कचरा आप डाल रहे हैं न डालते तो कुछ अर्ज न था फायदा हो सकता था क्योंकि कचरे के डालने में भी शक्ति वह होगी कचरे को संभालने में भी शक्ति वह होगी कचरे को भरने में भी मन का रिक्त स्थान भरेगा और व्यर्थ भर जाएगा ये वैसे जैसा कोई आदमी सड़क से कचरा उठा के घर में ला रहा हो वो कहे कि कुछ तो करेंगे बिना किए कैसे रह सकते और घर में लाए गए कचरे को बाहर फेंक देने में बहुत कठिनाई नहीं है मन में लाए गए कचरे को फिर बाहर फेंकने में बहुत कठिनाई है इसलिए पहला ध्यान तो पहला पहरा तो यही रखना पड़ेगा कि मन जब बाहर जाए तो आप सचेत हो जाए और होश पूर्वक बाहर जाए अगर अखबार पढ़ना है तो जान के कि मेरा यंत्र अखबार पढ़ना चाहता है मैं अखबार पढ़ता हूँ अब मैं अखबार पढ़ूंगा अखबार पढ़े होश पूर्वक तब आप पाएंगे कि अखबार पढ़ने में कोई रस नहीं आ रहा क्योंकि रस सिर्फ बेहोशी में आ सकता है ये बहुत मजा है कि व्यर्थ की चीजों में रस सिर्फ बेहोशी में आता है होश में नहीं आता आप किसी भी व्यर्थ की चीज में होश पूर्वक रस नहीं ले सकते बेहोशी में ले सकते इसलिए जिन लोगों को रस लेने का पागलपन सवार हो जाता है वो नशा करने लगते हैं क्योंकि नशे में रस ज्यादा लिया जा सकता नहीं तो रस नहीं लिया जा सकता होश पूर्वक यंत्र मानव को बाहर जाने की जो चेष्टा है उसे होश पूर्वक देखते रहे और होश पूर्वक ही काम करे अगर यंत्र मानव कहता है कि क्या अकेले बैठे हैं चले मित्र के घर तो उससे कहेंगे ठीक है चलते हैं होश पूर्वक चलते हैं तेरी मांग है हम देखते देखते हुए चलते संभावना यह है कि आप बीच रास्ते से घर वापस लौट आए वे कहेगी क्या क्योंकि बड़ा मजा ये है कि उस मित्र के पास रोज बैठ के बोर होते हैं और कुछ नहीं होता वो वही बातें फिर से कहता है कि मौसम कैसा है कि स्वास्थ्य कैसा है दो तीन मिनट में बातें चुप जाती है फिर वो वही कहानियां सुनाता है जो बहुत बार सुना चुका है फिर वो वही घटनाएं बताता है जो बहुत बार बता चुका और आप सिर्फ बोर होते और रोज यही ख्याल लेके लौटते हैं कि इस आदमी ने बुरी तरह उबा दिया लेकिन कल फिर रोबट कहता है कि मित्र के घर चलो और आपको ख्याल भी नहीं आता कि फिर आप बोर होने चले अपनी बोर्डम खुद ही खोजते हैं अगर आप होश पूर्वक जाएंगे तो रास्ते में आपको स्मरण आ जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं क्या मिलेगा पैर से चल पड़ जाएंगे संभावना यह है कि आप वापस लौट आए इस तरह आपके यंत्र चित्र की बाहर जाने की प्रत्येक क्रिया पर जागरूक पहरा रखे एक एक क्रिया छूटने लगेगी फिर जो बहुत नेसेसरी है जीवन के लिए अनिवार्य है उतनी ही क्रियाएं रह जाएंगी गैर अनिवार्य क्रियाएं छूट जाएंगी और तब आप पाएंगे कि शरीर संलीन होने लगा आप बैठेंगे ऐसे जैसे अपने में ठहरे हुए जैसे कोई झील शांत जिसमें लहर भी नहीं उठती एक रिपल भी नहीं जैसे आकाश खाली एक बदली भी नहीं भटकती जैसे कभी देखा हो आकाश में किसी चील को पंखों को रोक के उड़ते हुए संलीन पंख भी नहीं हिलता चील सिर्फ अपने में ठहरी फिरती है ठहरती भी नहीं फिरती है जैसे देखा हो किसी बदक को कभी किसी झील में पंख भी न मारते हुए ठहरे हुए ऐसा सब आपके शरीर में भी ठहर जाएगा मन में भी क्योंकि जैसे शरीर बाहर जाता है ऐसे ही मन भी बाहर जाता है अगर शरीर बाहर नहीं जा सकता तो मन और ज्यादा बाहर जाता है क्योंकि पूर्ति करनी पड़ती है अगर आप मित्र से नहीं मिल सकते तो फिर आंख बंद करके मित्र से मिलने लगते हैं विवाह स्वप्न देखने लगते हैं कि मित्र मिल गया बातचीत हो रही तो धीरे धीरे फिर मन की भी बाहर जाने की जो आंतरिक कोष है उन पर भी सजग हो जाए और जिस दिन शरीर और मन दोनों के प्रति सजगता होती है वो जो रोबोट यंत्र है हमारे भीतर वो बाहर जाने में धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे रस खो देता है तब भीतर जाया जा सकता है और भीतर जाने में किस चीज में रस लेना पड़ेगा भीतर जाने में उन चीजों में रस लेना पड़ेगा जिनमें सलीमता स्वाभाविक है जैसे कि शांति का भाव तो संलीनता स्वाभाविक है जैसे सारे जगत के प्रति करुणा का भाव तो उसमें संलीनता स्वाभाविक है क्रोध बाहर ले जाता करुणा बाहर नहीं ले जाती शत्रुता बाहर ले जाती मैत्री का भाव बाहर नहीं ले जाता तो उन भावों में ठहरने से भीतर यात्रा शुरू होती है पर संगीनता सिर्फ द्वार है उन सारी बातों का विचार हम अंतर तप की छह प्रक्रियाओं में करेंगे संलीनता तो उन छह के लिए द्वार है पर संलीन हुए बिना उनमें कोई प्रवेश न हो सकेगा ये सब इंटीग्रेटेड है ये सब संयुक्त है हमारा मन करता है कि इसको छोड़ दें उसको कर ले ऐसा नहीं हो सकेगा ये बारह अंग ऑर्गेनिक है ये एक दूसरे से संयुक्त है इनमें से एक भी छोड़ा तो दूसरा नहीं हो सकेगा अब महावीर ने इसके पहले जो पांच अंग कहे वो सब अंग शक्ति संरक्षण के हैं और छठमान संलीनता का जब शक्ति बचेगी तभी तो भीतर जा सकेगी शक्ति बचेगी नहीं तो भीतर क्या जाएगा हम करीब करीब रिक्त और दिवाली बैंक थे बाहरी शक्ति गवा देते हैं भीतर जाने योग कोई शक्ति बचती नहीं कुछ बचता ही नहीं मुल्ला नसरुद्दीन मरा तो उसने अपनी वसीयत लिखी उसने वसीयत लिखवाई बड़ी भीड़भाड़ इकट्ठी की सारा गांव इकट्ठा हुआ फिर उसने गांव के पंचायतों पंचायत के प्रमुख से कहा वसीयत लिखो थोड़े लोग चकित थे ऐसा कुछ ज्यादा उसके पास दिखाई नहीं पड़ता था जिसके लिए इतना शोरगुल मचाए उसने वसीयत लिखवाई उसने लिखवाया कि आधा तो मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति में से पत्नी को मिल जाए फिर इतना हिस्सा मेरे लड़के को मिल जाए इतना हिस्सा मेरी लड़की को मिल जाए इतना हिस्सा मेरे मित्र को मिल जाए इतना हिस्सा मेरे नौकर को मिल जाए वो सब उसने हिस्से लिखवा दिए वो पंच प्रमुख बार बार कहता था कि ठहरो वो पूछना चाहता था कि है कितना तुम्हारे पास और अखीर में उसने कहा कि सबको बांट देने के बाद जो बच जाए वो गांव की मस्जिद को दे दिया जाए और पंच प्रमुख ने फिर पूछा कि मैं तुमसे बाबा पूछ रहा हूँ तुम्हारे पास है कितना उसने कहा है तो मेरे पास कुछ भी नहीं लेकिन नियमानुसार मस्जिद तो लिखानी चाहिए नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि बिना वसीयत लिखा है मर्द है कुछ भी नहीं उसमें से भी वो कह रहा है कि सबको बांटने के बाद जो बच जाए वो मस्जिद को दे दिया जाए हम भी करीब करीब दिवालिया मरते हैं जहां तक अंतर संपत्ति का संबंध है हम सब दिवालिया मरते हैं नसरुद्दीन जैसे ही मरते हैं वो व्यंग हम पर ही है कुछ नहीं होता था कुछ भी नहीं होता क्योंकि सब हमने व्यर्थ खोया होता है व्यर्थ भी ऐसा खोया होता है जैसे कि आपने बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया हो और पानी बह रहा हो इस तरह व्यर्थ होता है आपके सब व्यक्तित्व के द्वार खुले हुए हैं बाहर की तरफ और शक्ति व्यर्थ खोती चली जाती है डिसिपेट होती है जो थोड़ी बहुत बचती है उससे आप सिर्फ बेचैन होते हैं और उससे भी कुछ नहीं करते उसको बेचैनी में नष्ट करते हैं परेशानी में नष्ट करते हैं तो महावीर ने पहले जो अंग कहे वो शक्ति संरक्षण के हैं ये जो छठवा अंग का ये संरक्षित शक्ति का अंतर प्रवाह है जैसे कोई नदी अपने मूल उद्गम की तरफ वापस लौटने लगे मूल स्रोत की तरफ शक्ति का आगमन शुरू हो बाहर की तरफ नहीं कुछ पाने के लिए नहीं वहां हम चले जहां हम हैं जहां से हम आए हैं वहां हम चले जहां से हमारे ये जीवन का फैलाव हुआ है वहां हम चले टू द रूट जड़ों की तरफ चले उस जगह पहुंच जाए जो हमारा अंतिम हिस्सा है जिसके पीछे हम नहीं है आखिरी और पीछे क्योंकि वही हमारा राज है रहस्य वही हम है और उसे हम कितने ही बाहर जाएं हम चांद तारों तक पहुंच जाएं तो भी उसे न पा सकेंगे उसे तो हमें भीतर ही जाना पड़ेगा उसके लिए तो हमें संलीन ही होना पड़ेगा शक्ति बचे शक्ति भीतर लौटे पर इस शक्ति को भीतर लौटने के लिए आपको तीन प्रयोग करने पड़े अपने शरीर की गतिविधियों को देखना पड़े शरीर की गतिविधियों और मन की गतिविधियों को तोड़ना पड़े शरीर की गतिविधियों और मन की गतिविधियों के पार होना पड़े अब तब आप अचानक पाएंगे कि आप संलिप्त होने शुरू हो गए अपने में डूबने लगे अपने में डूबने लगे अपने में उतरने लगे अपने भीतर और भीतर और भीतर और गहरे में जाने लगे इसमें एक ही बात आखिरी आपसे कहूँ जो कि अभ्यास करेगा कोई उसके काम की है क्योंकि जैसे ही संगीनता शुरू होगी बड़ा भय पकड़ता है बहुत भय पकड़ता है ऐसा लगता है जैसे सफोकेट हो रहे हैं जैसे कोई गर्दन दबा रहा है या पानी में डूब रहे हैं संगीन होने का जो भी प्रयोग करेगा वो बहुत भय से भर जाएगा जैसे ही शक्ति भीतर जानी शुरू होगी भय पकड़ेगा क्योंकि यह अनुभव करीब करीब वैसा ही होगा जैसा मृत्यु का होता है मृत्यु में भी शक्ति संलीन होती है और कुछ नहीं होता शरीर को छोड़ती है मन को छोड़ती है भीतर चलती है उद्गम की तरफ तब आप तड़फड़ाते हैं कि मैं मरा क्योंकि आप अपने को समझते थे वही जो बाहर जा रहा था आपने कभी उसको तो जाना नहीं जो भीतर जा सकता उससे आपका कोई संबंध नहीं कोई पहचान नहीं आप तो अपना एक ही चेहरा जानते थे बहिर्गामी अंतरगामी तो आपको कोई अनुभव ना था आप कहते मैं मरा क्योंकि वो सब बाहर जो जा रहा था बाहर नहीं जा रहा भीतर लौट रहा है शरीर से शक्ति डूब रही है भीतर बाहर नहीं जा रही मन अब बाहर नहीं जा रहा भीतर डूब रहा है अब सब भीतर गुड़ रहा है सब भीतर संकुचित हो रहा है सब केंद्र पर लौट रहा है गंगा अपने को पहचानती थी सागर की तरफ बहते हुए उसने कभी जाना भी ना था कि गंगोत्री की तरफ बहना भी मैं ही हूँ उसे पहचान नहीं है वो उसका कोई रिकग्निशन नहीं है तो मृत्यु में जो घबराहट पकड़ती है वही घबराहट आपको संलीनता में पकड़ेगी वही घबराहट मृत्यु का ही अनुभव होगा ये मर रहे हैं जैसे मन होगा कि दौड़ो बाहर कोई भी सहारा पकड़ो और बाहर निकल जाओ अगर बाहर निकल आते हैं तो संलीन ना हो पाएंगे तो जब भय पकड़े तब भय के भी साक्षी बने रहना देखते रहना भी ठीक है मृत्यु से भी ये अनुभव कठिन होगा क्योंकि मृत्यु तो परवस्था में होती है आप कुछ कर नहीं सकते छूट रहे होते हैं सहारे इसमें आप कुछ कर सकते हैं आप जब चाहे तब बाहर आ सकते हैं ये तो इंटेंशनल है ये तो आपका संकल्प है भीतर जाना मृत्यु में तो आपका संकल्प नहीं होता मृत्यु में कोई चुनाव नहीं होता आप मारे जा रहे होते हैं आप मर नहीं रहे होते ये स्वेच्छा से मृत्यु का वरण है ये अपने ही हाथ से मर के देखना है ये एक बार भय को छोड़कर भय के साक्षी होकर जो हो रहा है उसकी स्वीकृति को मानकर अगर आप डूब जाए तो आप मृत्यु के भय के सदा के लिए पार हो जाएंगे फिर मृत्यु भी आपको भयभीत नहीं करेगी एक बार आपको अंतर्मुखी ऊर्जा की यात्रा भी मैं ही हूँ ऐसा अनुभव हो जाए तो फिर मृत्यु का कोई भय नहीं है फिर आप जानते हैं कि मृत्यु है ही नहीं फिर मृत्यु है ही नहीं मृत्यु सिर्फ अंतर यात्रा की अपरिचय के कारण प्रतीत होती है बहिर यात्रा के साथ तादात्म अंतर यात्रा के साथ कोई संबंध नहीं इसलिए मृत्यु प्रतीत होती है ये संबंध संलीनता से निर्मित हो जाता है कहे आप स्वेच्छा से मर के देख लेते हैं और पाते हैं कि नहीं मरता आप स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश कर जाते हैं और पाते हैं कि मैं तो हूं मृत्यु घटित हो जाती है सब वाह छूट जाता है जो मृत्यु में छूटेगा वो सब छूट जाता है सब जगत मिट जाता है शरीर भूल जाता है मन भूल जाता है फिर भी चेतन का दिया भीतर चलता रहता है संलीनता के इस प्रयोग को कोई ठीक से करे तो शरीर के बाहर एस्ट्रल प्रोजेक्शन या एस्ट्रल ट्रेवलिंग सरलता से हो जाती है जब आपका शरीर भी मिट गया मन भी मिट गया सिर्फ आप ही रह गए सिर्फ होना ही रह गया तब आप जरा सा ख्याल करें शरीर के बाहर तो आप शरीर के बाहर हो जाएंगे शरीर आपको सामने पड़ा हुआ दिखाई पड़ने लगे कभी कभी अपने आप घट जाता है वो भी मैं आपसे कह दू क्योंकि जो प्रयोग करे उनको अपने आप भी कभी घट जाता है आपके बिना ही ख्याल अचानक आप पाते हैं आप शरीर के बाहर हो गए तब तो बड़ी बेचैनी होती और लगता है डर कि आप वापस शरीर में लौट सकेंगे कि नहीं लौट सकेंगे आप अपने पूरे शरीर को पड़ा हुआ देख पाते हैं पहली दफा आप अपने शरीर को पूरा देख पाते हैं आईने में तो प्रति छवि दिखाई पड़ती है आप पहली दफा अपने पूरे शरीर को देख पाते हैं बाहर से और एक बार जिसने बाहर से अपने शरीर को देख लिया वो शरीर के भीतर होकर भी फिर कभी भीतर नहीं हो पाता है वो फिर बाहर ही रह जाता है फिर वो सदा बाहर ही होता है फिर कोई उपाय नहीं है उसके भीतर होने का भीतर हो जाए तो भी उसका बाहर होना बना रहता है वो पृथक ही बना रहता है फिर शरीर पर आए दुख उसके दुख नहीं है फिर शरीर पर घटी हुई घटनाएं उस पर घटी घटनाएं नहीं है फिर शरीर का जन्म उसका जन्म नहीं है फिर शरीर की मृत्यु उसकी मृत्यु नहीं है फिर शरीर का पूरा जगत उसका जगत नहीं और हमारा सारा जगत शरीर का जगत है इतिहास समाप्त हो गया उसके लिए जीवन कथा समाप्त हो गई उसके लिए अब तो एक शून्य में ठहराव है और समस्त आनंद शून्य में ठहरने का परिणाम समस्त मुक्ति शून्य में उतर जाने की मुक्ति समस्त मोक्ष लेकिन हम निरंतर बाहर भाग रहे हैं ये हमारा बाहर भागना आक्रमण है महावीर ने शब्द बहुत अच्छा प्रयोग किया है प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण का अर्थ है भीतर लौटना आक्रमण का अर्थ है बाहर जाना प्रतिक्रमण का अर्थ है coming back to the home घर वापस लौटना इसलिए महावीर अहिंसा पर इतना आग्रह करते हैं क्योंकि आक्रमण ना घटे चित्त का तो प्रतिक्रमण नहीं हो पाएगा तल्लीनता फलित नहीं होगी ये सब सूत्र संयुक्त है ये मैं कह रहा हूं इसलिए अलग अलग कहने पड़ रहे हैं जीवन में जब ये घटना में उतरने शुरू होते तो सब संयुक्त है अनाक्रमण लेकिन हम सोचते हैं जब हम किसी की छाती पे छुरा भोंकते हैं तभी आक्रमण होता है नहीं जब हम दूसरे का विचार भी करते हैं तब भी आक्रमण हो जाता है दूसरे का ख्याल भी दूसरे पर आक्रमण है दूसरे का मेरे चित्त में उपस्थित हो जाना भी आक्रमण आक्रमण का मतलब ये है कि मैं दूसरे की तरफ बहा छुरे के साथ गया दूसरे की तरफ कि आलिंगन के साथ गया दूसरे की तरफ कि सद्भाव से गया कि असद्भाव से गया दूसरे की तरफ जाती हुई चेतना आक्रमक है मैं दूसरे की तरफ जा रहा हूं यही आकलन हम सब जाना चाहते हैं जाना इसलिए चाहते हैं कि हमारा अपने पर तो कोई मालकियत नहीं है किसी दूसरे पर मालकियत हो जाए तो थोड़ा मालकियत का सुख मिले थोड़ा सा ही कोई दूसरा मालिक हो जाए मुल्ला नसरुद्दीन गया है एक मनोचिकित्सक के पास और उसने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ पत्नी से बहुत भयभीत हूँ डरता हूँ मेरे हाथ पैर पकते हैं मोमो मेरा थूक सूख जाता है जैसे मैं उसे देखता हूँ मनोवैज्ञानिक ने कहा ये ये कुछ ज्यादा चिंता की बात नहीं ज्यादा चिंता की बात तो इससे उल्टी बीमारी है उल्टी बीमारी के लोग पत्नी को देखकर ही हमला करने को उत्सुक हो जाते हैं सिर तोड़ने को उत्सुक हो जाते हैं घसीटने को उत्सुक हो जाते हैं मारने को उत्सुक हो जाते आक्रमक हो जाते वही असली साइकोपैथ है साइकोपैथी ये तो कुछ भी नहीं ये तो ठीक है इसमें कुछ घबराने की बात नहीं तो अधिक लोगों के लिए यही है मुल्ला बड़ा उत्सुक हो गया कुर्सी से आगे झुकाया उसने कहा कि doctor any chance of my catching that disease psychopathy कोई मौका है कि मुझे वो बीमारी लग जाए जिसको आप साइकोपैथी कह रहे हैं कि मैं भी घर जाऊंगा लट उठा के सिर खोल दू उसका मन तो मेरा भी यही करता है लेकिन उसके सामने जाके मेरे सब मंसूबे गड़बड़ हो जाते और दिन की तो बात दूर वर्षों से मैं एक दुख स्वप्न एक नाइटमेयर देता हूं तो वो भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि कुछ इलाज है मनोवैज्ञानिक ने कहा कौन सा दुख स्वप्न तो उसने कहा कि मैं रात निरंतर अपनी पत्नी को देखता हूँ और उसके पीछे खड़े बड़े राक्षस को देखता हूँ मनोवैज्ञानिक उत्सुक हुआ उसने कहा कि इंटरेस्टिंग और जरा विस्तार से कहो तो नसरुद्दीन ने कहा कि लाल आंखें जिनसे लपटे निकल रही है सींग बड़े बड़े लगता है कि छाती में भोंक दिए जाएंगे हाथों में नाखून ऐसे जैसे खंजर हो बड़ी घबराहट पैदा होती है मनोवैज्ञानिक ने कहा घबराने वाला है भयंकर नसरुद्दीन ने कहा this is nothing wait till I tell you about the master जरा रुको जब तक मैं राक्षस के संबंध में न बताऊं तब तक कुछ मत कहो ये तो मेरी पत्नी है उसके पीछे जो राक्षस खड़ा रहता भी उसका तो मैंने वर्णन ही नहीं किया उसका भी वर्णन किया उसके भयंकर दांत जो लगता है कि चपेट डालेंगे पीस डालेंगे उसका विशाल का शरीर उसके सामने भी उनकी कीड़ा मकोड़ा हो जाता और उसकी घिनौनी बांस और उसके शरीर से झरते हुए घिनौने घिनौनी चीजें और रस ऐसी घबराहट भर देते हैं कि दिन भर वो मेरा पीछा करता है मनोवैज्ञानिक में कहा बहुत भयंकर बहुत घबराने वाला नसरुद्दीन ने कहा कि wait till I tell you that monster is no one else than me जरा रुको वो राक्षस और कोई नहीं और घबराने वाली बात यह है कि जब गौर से देखता हूं तो पाता हूं मैं ही और ये दुख अपने वर्षों से चल रहा है जब तक चित्त आक्रमक है तब तक दूसरे में भी राक्षस दिखाई पड़ेगा और अगर गौर से देखेंगे तो आक्रमक चित्त अपने को भी राक्षस ही पाएगा और हम सब आक्रमक हैं हम सब दुख स्वप्न में जीते हमारी जिंदगी एक नाइट मेयर है एक लंबी सांस एक लंबा रक्त पास से भरा हुआ नाटक एक लंबा नारकी दृश्य मुल्ला मर के जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो स्वर्ग के पहरेदार ने पूछा कहां से आ रहे हो उसने कहा मैं पृथ्वी से आ रहा हूं तो उस द्वारपाल ने कहा कि वैसे तो नियम यही था कि तुम्हें नर्क भेजा जाए लेकिन चूंकि तुम पृथ्वी से आ रहे हो नर्क तुम्हें काफी सुखद मालूम होगा न तुम्हें काफी सुखद मालूम होगा इसलिए कुछ दिन स्वर्ग में रुक जाओ फिर तुम्हें नर्क भेजेंगे ताकि नर्क तुम्हें दुखद मालूम हो तो मुल्ला को कुछ दिन के स्वर्ग में रोक लिया क्योंकि सब सुख दुख रिलेटिव मुल्ला ने बहुत कहा कि मुझे सीधे जाने दो उस द्वारपाल ने कहा ये नहीं हो सकता क्योंकि नर्क को अभी तुम्हें स्वर्ग मालूम होगा तुम पृथ्वी से ही आ रहे हो सीधे अभी कुछ दिन स्वर्ग में रह लो जरा सुख अनुभव हो जाए फिर तुम्हें नरक में डालेंगे तब तब तुम्हें सताया जा सकेगा हम जिसे जिंदगी कह रहे हैं वो एक लंबी नर्क यात्रा है और वो नर्क यात्रा का कारण को लिखना है कि हमारा चित्त आक्रमक है पर केंद्रित चित्त आक्रमक होता है स्व केंद्रित चित्त अनाक्रमक हो जाता है प्रतिक्रमण को उपलब्ध हो जाता है ये प्रतिक्रमण की यात्रा ही अलीनता में डुबा देगी आज वाह तक पूरे हुए कल से हम अंतर तक को समझने की कोशिश करेंगे अब रुके पांच मिनट